ने दिया जो मारूफ नाम है वही है असाबल फील हाथी वाले में शहर की जैसे काबे की हिफाजत अल्लाह ने किया तो उस तरह बैतुल मुकदस जो है तो उसकी हिफाजत भी जैसे अरब कंट्रीज जो आसपास है तो वो ये सोच के तो फिर फेवर में जैसे या उसके उसमें बोलते तो नहीं कि जाने इसकी भी हिफाजत नहीं करेंगे हम क्यों खाना खा दुश्मनी ले किसी से तो ऐसा अच्छा, ऑफिशियली वो बाइकआउट नहीं करते इसराइली प्रोडक्ट का या किसी और चीज का या उनके दिलों में डर बैठ गया कि कभी वो खुल के बोलते नहीं बट बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखा गया कि जैसा अपने इराक वगैरह में जो वॉर होती तो जब आपसी क्लैशेस चलते हैं तो ये ले, ये लोग बड़े बड़े आलिम बोलते हैं कि भाई ये जहाद है इसमें आप पार्टिसिपेट करो बट जब इसराइल से या किसी और से जंग होती तो वो आलिम वगैरह कभी कभी दिखाई नहीं देते कि ये भी जहाद है आप इसमें पार्टिसिपेट करो ऐसा बोलते तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे ने एक अच्छा सवाल किया ये जो है बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसा कि खाने काबा की हिफाजत का जिम्मे के तालु से बात हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरब ममालिक ये सोचते हैं कि बैतुल मुकदस की हिफाजत का भी जिम्मा अल्लाह ने लिया है लिहाजा जो है उसकी हिफाजत करने की जरूरत नहीं और उसके खिलाफ बात भी नहीं करते हैं और इसी तरह जो है आपसी जब झगड़ा होता है इराक में हुआ या शिया सुन्नी जब फसाद हो रहे हैं तो तब तो ये कह रहे हैं कि भाई हिस्सा लो ये जहाद है शिया अपने तरफ से कह रहे हैं सुन्नी अपने तरफ से कह रहे हैं लेकिन जब मामला यहूदियों के खिलाफ आता है इसराइल या जुल्म करने वाली कौमों के खिलाफ आता है तब तो वो लोग नजर नहीं आते जो कहते कि इनके खिलाफ भी जिहाद है ठीक है तो इसका क्या मामला है या वो आलिम नजर नहीं आते फला देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि बैतुल मकदस एक ऐसी जगह है जो मुकदस है इसलिए उस जगह का नाम ही बैतुल मकदस है और उस शहर का नाम अल खुद्स है जो कि यरूशलम जो है सालिम मुल्क के एक शख्स थे जो इब्राहिम के जमाने में थे और ऊर सालिम उसका नाम था ऊर का वहां पर शहर सालिम मतलब सलामती वाला शहर उस बादशाह का ऊर सालिम था जेरूसलम हम कहते हैं उसका एक इलाका ये डिस्ट्रिक्ट है उसका एक सिटी है जिसका नाम है अलखुद्स अलखुद्स के अंदर बैतुल मकदस लोकेटेड है उसके अंदर का हिस्सा तो याद रखिए ये एक बरकत वाली जगह है और अल्लाह ने खुद कुरान में इसकी वजाहत की और फरमाया सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर सत्रह नंबर एक में सुभान अल्लजी असरा बी अब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अल अक्सा अल्लाजी बारकना हौलहू पाक है वो जात बाबरकत है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रात के हिस्से में बैतुल मकदस बैतुल हराम से बैतुल मकदस तक जिसके अतराफ हमने अपनी बरकतें फैला रखी है तो लिहाजा बैतुल मकदस अल्लाह का पहला घर था रसूल अक्रम सत्रह महीने तक एक रिवायत में तेरह या सत्रह महीने तक उसके तरफ नमाज पढ़ते रहे तो जाहिर सी बात है अल्लाह का घर है और इसकी हिफाजत देखिए शायर है कुछ अलामतें हैं मुसलमानों की जिनके लिए हम ये नहीं कर सकते सब चीजों के हिफाजत अल्लाह ने लिया और लिहाजा हम वो नहीं करेंगे डिफेंस भी नहीं करेंगे ये तो खुराइश की से याद हो गया कि इज्जत उठाओ मुसलमान होने की वजह से विकार उठाओ मुसलमान की वजह से और जब मामला आया अल्लाह के शायर उसके घर का या मुकदस मुकाम अगर किसी कह सकते तो बैतुल मकदस से हो जाकर और मस्जिद हराम है और उसके बाद जो ये क्योंकि मदीना भी हराम है मस्जिद हरम जाए है मक्का भी हरम है और बैतुल मकदस भी याद रखी बहुत अहम मुकाम है इसलिए उसकी तरफ बरकत है मुकदस जगह है तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ अगर कोई उठता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी ये थोड़ी आप बैठ जाएंगे सोच अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया नहीं लिया मोमिनों की लिया ना तो फौज की क्या जरूरत फिर लड़ने की क्या जरूरत फिर डिफेंस की क्या जरूरत ये तो अब रहा अरब ममालिक जो अतराफ में वो क्या कर रहे हैं तो यकीन वो डरे हुए हैं इसको बोलने में मुझे कोई शर्म और कोई झिझक नहीं है लेकिन उनका डर क्यों है वो हम उसको भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं उसको भी हम कोशिश करते हैं समझने की सबसे पहले अलग ममालिक की थोड़ी सी तारीख हमको देखना पड़ेगी जिस उरूस पर वो आज है आज से पचास साल पहले थे क्या उनका कोई वजूद था जिन ममालिक में आज जाना हम अजमत समझते हैं बड़ापन समझते हैं मैं आपको बताऊं ये मुल्क वो है जिनको हमारी जक़ातें जाया करती थी पिछली सदी में सऊदी अरब का पहला मदरसा मौलाना रहमतुल्ला किरानवी जो कि हिंदुस्तान के थे 1850 में तामीर किया उन्होंने आज भी उनके नाम से वो मदरसा मौजूद है मक्का शहर के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तानी जाते हुए देखते हैं हिंदुस्तान की जकतें हिंदुस्तान के बादशाह और की जकतें मक्का और मदीना जाया करती इलेक्ट्रिसिटी मक्का में सबसे पहले जो हमारे निजाम ने लेकर आए मक्का मदीना में नहीं थी ट्रेन सिस्टम जो है तुर्की की खलीफा ने चालू किया उसके अंदर के दोनों जो रेल लिंक मिल जाए जो कि अंताकिया मतलब तुर्की इस्तांबुल से ट्रेन निकलती थी और मक्का मदीना तक आती थी ट्रेन सिस्टम चालू जो जर्मनी ने डेवलप किया था उस जमाने तो ये वो मुल्क की हम बात कर रहे हैं जिनकी 50 साल पहले इकोनॉमिकली कोई हैसियत नहीं थी जो बद्दू किस्म के लोग थे जिनका गुजारा खजूरों पर और अपने जानवरों पर हुआ करता था ये वो लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कब आया अरबों के अंदर ये आया 1924 के बाद जब पहली बार ईरान के अंदर तेल निकला 1924 में डिटेक्ट हुआ जो कि ब्रिटिशर्स ने डिटेक्ट किए वजह ये थी कुछ गढ़े थे जिसमें से कुछ चीज निकलती थी लिक्विड जिसको कई जमाने से ईरानी लोग अपनी कश्तियों के अंदर और बाहर लगाते थे जिसकी वजह से ये होता था कि कश्तियों के पाटे जो होते थे वुड जो था लकड़ी थी वो सड़ती नहीं थी और उसको कभी कभी लेके जलाया भी करते थे जिसमें आग लगती थी ब्रिटिशर्स ने पहले जाना कि ये तेल है इन्होंने मुहिदा किया मुहिदा किया इनसे इनसे ईरानियों से और कहा कि ये तेल हम निकालते हैं ईरान में सबसे पहली बार तेल निकला ईरान के शाह ने उसकी इजाजत दे दी उसके बाद यह हुआ कि उन्नीस में 1939 में सऊदी अरब में तेल निकला जिसकी तादाद पूरे अरब ममालिक में डिटेक्ट किए गए तेल से ज्यादा थी बहुत से में तो है ही भी नहीं आज भी नहीं मतलब बहरीन में है खतर में मिल जाएगा यमन में नहीं मिलेगा यमन में तेल नहीं तो बहुत से इलाकों में डिटेक्ट हुआ उन्होंने निकाला जब ये तेल निकला तो फर्स्ट टाइम ये लोग ग्लोबल मार्केट में शामिल इससे पहले ग्लोबल कम्युनिटी मानी भी नहीं जाती थी ना इंटरनेशनल कोई सिस्टम था तुर्कों के पास था तुर्की खिलाफत तो बहुत एक, एक अजीम खिलाफत थी लेकिन तुर्क और अरबों फर्क है नस्ली फर्क तो तुर्कों ने डेवलप किया लेकिन बैंकिंग वैंकिंग उन्होंने भी नहीं किया आप समझिए मतलब जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का दौर आया उस दौर में अरब डेवलप हुए उससे पहले थे भी नहीं होती अब 1940 के बाद इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ जिसमें सबसे पहली बार अमेरिका से कुछ लोग आए क्योंकि अरबों ने पहले ब्रिटिशर्स को दिया 1934 में सॉरी लेकिन उनकी जमीन ही तो फिर अमेरिका ने इसको टेक ओवर कर लिया जिससे सबसे पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वजूद में इसको कहते आराम को अमेरिकन अरेबियन ऑयल कंपनी ये वजूद में जिसको बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने 1995 प्लस कंप्लीट टेक ओवर करके 100 परसेंट शेयर ले लिए और आराम को से निकल के वो सऊदी आराम को हो गया और आराम को मतलब American Arabian A R A M American Arabian oil company था तो उन्होंने टेक ओवर करके अब सऊदी अरब मतलब हंड्रेड परसेंट स्टेक अब सऊदी गवर्नमेंट का उसमें उन्होंने धीरे धीरे करके अमेरिका को पूरा निकाल दिया लेकिन नाम चेंज नहीं किया तब अंदाजा लगाई फोर में उनको शुरू हुई हालत ये थी कि 1934 में शाह सऊद मौजूद थे जिनके नाम सऊदी अरेबिया में शुरू है शाह सऊद मौजूद है उसकी एक क्लिप मैंने बहरहाल देखी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जब ये लोग गए और उनसे बात की कि हमको जमीन से तेल निकालना आपके वो शाह सऊद बैठे हुए टेंट के बाजू बकरियां वकरियां खूब जमी हुई आसपास खजूर रखे हुए और ये बिल्कुल हैट वर्ड पहने हुए रिस्पेक्टफुली खड़े हुए वो और इनसे जान लड़े इन्होंने कहा कि तुमको जो करना जमीन पे करो जमीन किराए से तुम जमीन में से कुछ निकाल दो जाओ ले जाओ ये हालत और उस वीडियो के अंदर कम अज कम शाह सऊद ने तीन से चार बार जमाई ली मीटिंग में पूरे दो इनको बस क्या किधर से बैठे हुए ये वो क्या कर रही है तो मुझे दे फर्स्ट टाइम 1939 तक यह हाल हुआ सऊदी अरब का कि शाह सऊद का सिर्फ रॉयल्टी इन्होंने कुछ भी नहीं लिया रॉयल्टी लेना टैक्सेशन ना कुछ लगा जब वो पैसा आने लगा रॉयल्टी का डॉलर्स आने लगे तो करेंगे क्या ये कौम को कुछ भी नहीं पता ये मतलब एक लिहाज से एक, एक, एक सादा लो जिंदगी जीने वाली कौम है सो कोई दुनिया के सोफिस्टिकेशन नहीं मालूम कोई दुनिया की रंगीनियां नहीं देखे इन्होंने एकदम सादा जीने वाली कौम खजूर है उनके जानवर है और इनकी जिंदगियां उनके इलाके कबाइली ये जिंदगियां थी तो वो पैसे उठाते थे और एक कोई शहजादे को देते ये तुम्हारी हुई हफ्ते वाली उनको मिलती थी रॉयल्टीज या मंथली मिलती रॉयल्टी जो कि इतनी ज्यादा हुई कि फर्स्ट टाइम उनको सोचना पड़ा रखेंगे क्या इसको अब आया मामला इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलपमेंट करने का कि बैंक्स बनाया जाए पैसा अब आना शुरू हुआ वरना समझ रहे कैसी इकोनॉमी थी जो जमीन में उगरा वही खा रहे शिकार कर रहे हैं जिंदगी जी रहे अभी पैसे का चलन ही नहीं हाँ आप उनके जमाने के बाद तो बहुत इकोनॉमिकल सेंटर्स रहे मक्का और मदीना लेकिन जब खिलाफत हजरत अली के जमाने में कूफा ट्रांसफर हुई तो फिर बगदाद में रही और बगदाद से निकल कर फिर चलेगी तुर्की के अंदर फिर अरबों के पास कभी नहीं आया मतलब सऊदी अरब में नहीं आई वापस खिलाफ ठीक तो अब ये वापस से सादा लोग हो गए गुर्बत की जिंदगियां गुजार रहे अब जब डेवलपमेंट शुरू हो रहा है इन कंट्रीज का तो इन्होंने अपना पैसा जमा करना कहां शुरू किया बैंक ऑफ इंग्लैंड ठीक है आप समझ रहे फेडरल बैंक जो कि एक बहुत अजीब बात है सोचने की बात है अगर आप इसको अगर समझे तो आपको पता है फेडरल रिजर्व जो अमेरिकन गवर्नमेंट का मेन सिस्टम है जो डॉलर छापता है फेडरल रिजर्व अगर इसकी हकीकत आपको पता हो तो सिर्फ आप इतनी बात जान लीजिए फेडरल रिजर्व एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी है जो अमेरिका को डॉलर छाप कर देती है और हर छपे हुए डॉलर पर अमेरिका को मखरूज करती है जो वो डेप्ट का देखिए आप चार्ट अमेरिका के स्टॉक्स में लगा रहता है अमेरिकन डेप्ट चलते रहते फिगर बिलियंस ऑफ डॉलर चलते हैं दिन के अंदर वो फेडरल रिजर्व एक यहूदियों की आजाद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मुकम्मल अमेरिका की करेंसी छापती है इसको ऐसा सोचिए कि इंडियन गवर्नमेंट करेंसी नहीं छापती है इंडियन गवर्नमेंट ने एक बैंक को दिया जो कि प्राइवेट बैंक है और वो करेंसी छाप के इंडियन गवर्नमेंट को दे तो अब इकोनॉमी और अमेरिका को और इंडियन गवर्नमेंट को चलाने वाला कौन हुआ वो बैंक तो फेडरल रिजर्व जो बोलते हैं ना आप ये प्राइवेट एक बैंक है मतलब ये एक कंपनी है जिसको चंद यहूदी चलाते हैं मालूम हर छपा हुआ डॉलर उधार है यहां जो दे रहे हैं अमेरिका की भी यहां ले जाते हैं अरबों का क्या हुआ फिर अब ये पैसा गया फेडरल बैंक में ये पैसा गया बैंक ऑफ फ्रांस में ये पैसा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो फेडरल बैंक अब अरबों ने अपनी इकोनॉमी डेवलप करना शुरू की पूरा पैसा कहां लगाया अमेरिका में और यूरोप में इन्वेस्टमेंट शुरू की जब इनके पास खुद मुख्तारी आने लगी ये डेवलप नेशंस में शामिल होने लगे प्रॉब्लम ये शुरू हुआ इनकी मुकम्मल इकोनॉमी वहां की मुकम्मल पैसा वहां का सबका कोई भी नहीं इसमें सबसे पहला अरब मुल्क जिसने बगावत की वो इराक था इराक पहला मुल्क था जिसने अपने पूरे डॉलर्स को कन्वर्ट किया और उसको यूरो में तब्दील किया जिसमें सबसे पहला अटैक उसको बर्दाश्त करना सद्दाम हुसैन पहला डिक्टेटर था जिसने ये कहा कि हम डॉलर में नहीं यूरो से अपने आप को करेंगे और उसने अपने रिजर्व को जो जो जो, जो इराकी रिजर्व से जो पैसा है उनका उसको चालू किया यूरो में करना जो पैसा कहा है अमेरिकन बैंक इराक एक ऐसा मुल्क था जिसको दाद थे एक तरह से मैं काट सकता था तो जब इराक को उन्होंने इस तरह से चूरा किया और बाकी मुल्क इनके तो दाद भी नहीं कोई भी दूसरा मुल्क नहीं है वैसा ईरान इधर से अगर आप गए तो पाकिस्तान उसके बाद ईरान उसके बाद इराक फिर तुर्की होगा एक अलग ये बाकी लीबिया मिस्र जितना भी होगा इकोनॉमिकली बहुत इतने वो है कि इनका अनाज भी जो है पूरे मुल्क से जाता है मतलब इतने वो होते हैं कि वीट भी राइस भी वो बेचारे बाहर से लाते हैं इस तरह के तो हालात है पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन कारोबार नहीं खेती तो होती है तो अब बताइए आप आपका पूरा पैसा एक साहूकार के पास है और वो साहूकार आप पर जुल्म करता है जहां करेंगे आप मतलब आपके भाई पर जुल्म करता है आप बोलते हैं भाई को बचाऊं तो पैसा गया भाई को बचाऊं तो पैसा गया पैसे को देखो तो भाई गया ये हालत है तकरीबन अरब ममालिक की रहा इंडोनेशिया मलेशिया जो कुछ अपनी अलग स्टेटस रखते हैं पहचान रखते हैं बहुत बड़े मुल्क हैं इनकी भी कोई मीशत इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है इंडोनेशिया के ताल्लुक हम जानते हैं इंडोनेशिया में जो हाइटी एक छोटा सा उसका जजीरा था जिसमें आधा मुसलमानों को दिया आधा क्रिश्चियन को दिया गया उस वॉर के अंदर इसकी इंडिपेंडेंस डे भी अमेरिका बहुत खुशी से मनाते हैं क्रिश्चियन को अलग किया उस वॉर के अंदर इंडोनेशियन इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर दी गई इंडोनेशियन जो रुपया था उसकी हालत ये की गई कि वो six thousand Indonesian rupees equivalent to one dollar कर दिया गया था सूडान ने आवाज उठाया सूडान ने आवाज उठाया सूडान के दो टुकड़े हुए सूडान ने उसके खिलाफ आवाज उठाया सूडान का पाउंड जो था उसको इतना गिरा अमेरिकन ने कि एक American dollar equal to fifteen thousand Sudanese pound जबकि पहले साढ़े तीन या साढ़े चार रुपए का था मतलब सुदानीस एक पाउंड अगर अमेरिकन एक डॉलर होता सुदानीस पांच पाउंड होते थाउजेंड में उन्होंने गिराया उसे क्यों समझ गया पूरी इकोनॉमिकल कंट्रोल उनके पास अब आप इंटरनल तो आपकी कंट्री चला सकते हैं इंडोनेशिया चल रहा है मलेशिया चल रहा है ये भी चल रहा है जैसे जापान को किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जापान ने अपनी करेंसी कोई बढ़ाया नहीं आता यानी को गिरावा ही रखा क्योंकि उसको फायदा हो रहा है एक्सपोर्ट में उसका करेंसी सस्ती होती है लोग खरीदते हैं ठीक है वो तो अलग चीज अब बताइए इंटरनल इकोनॉमी तो चल रही है बट पेप्सी बस की थी दस में आ रही है कोकोला फला में था फला में आ रहा है कपड़े इतने में थे इतने में आ रही है ये तो हो गया लेकिन ये कपड़ों को अगर मुझे अमेरिका से कोई चीज लेना है तो आप क्या हो जाएंगे इंडिया के समझ लीजिए इंडिया की इकोनॉमी को अमेरिका ने गिरा दिया एक डॉलर के मुकाबले में पांच हजार इंडियन रुपीज आ रहे हैं तो अंदर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा हमको इंडिया में ट्रेन टिकट वही रहेगा सब रहेगा लेकिन अब इंडिया को लेना है जर्मनी से कोई प्रोडक्ट अब तो इंडिया समझ लीजिए और ट्रका भर भर के पैसे देना पड़ेंगे तो तब आएंगी एक छोटी सी चीज इकोनॉमिकल कंट्रोल तो यहूदियों ने और अमेरिका को जो इस्तेमाल किया यहूदियों ने और जो किया वो है फुल्ली इकोनॉमिकल कंट्रोल जिसके तहत ना अमेरिका कुछ बोलेगा जिसके तहत ना अरब कुछ बोलेंगे जिसके तहत ना कोई दूसरा मुस्लिम बोलेगा जिसके तहत ना कोई चाइना आवाज उठाएगा चाहे कितना भी वो खिलाफ बोले चाइना की इकोनॉमी भी डॉलर से जुड़ी रशिया भी कुछ नहीं बोलते कि रशिया की इकोनॉमी भी अमेरिकन डॉलर से जुड़ी हुई है डॉलर गिरता बढ़ता अमेरिका ने वॉर किया इराक वॉर किया अफगानिस्तान वॉर किया उसकी करेंसी गिरी चालीस रुपए तक डॉलर गया था पिछले एक साल में करेंसी वापस उठा दी गई बासठ रुपए कर दिया गया इंडियन एक एक dollar sixty two Indian rupees से आज एक साल पहले फोर्टी हो चुका है तो एक मुल्क जो मखरूज है उसकी इकोनॉमी उठती कैसा है इसलिए कि सारे मुल्कों ने मिलकर उसकी इकोनॉमी को उठाया भाई तू ऊर्जा इसलिए कि तुझसे हमारे पैसे जुड़े हुए पर मालूम आप अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ अब अरब ममालिक को आप खुद ही बोल के ये ऐसे हाल है कि हम खुद जो है अपने पैरों पर खड़ी हुई एक कौम नहीं है और हम एक दूसरों से जो पचास साल पहले उठे मेरा एक सवाल है जो मुल्क इनसे पहले से है और इनसे ज्यादा मजबूत है उन्होंने क्या किया इंडोनेशिया ने क्या किया मलेशिया ने क्या किया इंडियन मुस्लिम ने क्या किया भाई हम तो इतने स्टेबल मुसलमान हैं दुनिया के कि हिंदुस्तान के अंदर चौदह साल से बसते हैं और हजार साल हुकूमत में थे अपने आप को हम क्यों नहीं कोसते हमने क्या किया जो मुल्क 50 साल पहले बन के आज इस नक्शे पे आ रहे हैं दुनिया के अब उनको क्यों पहुंच रहे सऊदी अरब क्या कर रहा ये क्या कर अरे ये तो 50 साल पहले तरक्की करके आए 50 साल पहले इनकी तारीख पढ़ लो आप इनके शहरों को देख लो आप तो जंगल है जंगल फिफ्टी ईयर्स मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं आप औरंगाबाद शहर में ऐसे हाजियों को मिल सकते हैं जो बताएंगे जो बताएंगे कि मक्का की क्या हालत है कि बैतुल खला नहीं थे वहां वो हज क्या उस हालत उन वो छोड़ दीजिए 1980 तक ले लीजिए बयासी के बाद डेवलपमेंट है 1980 का मामला लीजिए 1980 में मैंने ऐसे हाजियों को देखा है जिनके तलवों में छाले आ जाते थे हज नहीं कर पा छालों की वजह से तो पत्थर पे पूरे टाइल्स डालने की जिनकी हैसियत नहीं थी जो मुल्क आज डेवलप हुए और आप बढ़ो ये क्यों नहीं कर रहा वो क्या करेंगे यार अपने आप को क्यों नहीं कोस रहे हम कि हम हजार साल से इंडिया में रहे हमने क्या करे आज तक फला के लिए पाकिस्तान ने क्या किया फला के लिए हाँ? बांग्लादेश क्या करा चलिए जो भी है लेकिन एक मुल्क है ना उसने क्या किया वो कुछ नहीं मतलब क्या एक मुल्क ने या दो मुल्क ने ठिकाने रखे रहा फलस्तीन के अतराफ के मुल्क ये भी कोई स्टेबल मुल्क नहीं ये इतने अनस्टेबल है कि 1967 में उन्नीस में यहूदियों की और मुसलमान ममालिक की पहली जंग हुई जिसमें इराक ने हिस्सा लिया नौ मुस्लिम मुल्कों ने हिस्सा लिया इराक सऊदी अरेबिया जॉर्डन मिस्र लेबनन सीरिया नौ मुल्कों ने हिस्सा लिया एक वॉर में किसके खिलाफ यहूदियों के खिलाफ सिक्स डे वॉर बोलते हैं उसको छह दिन वो जंग चली इसराइल ने छह दिन में नौ मुल्कों को हरा सिक्स डे वाबा मशहूर है नक्सल छह दिन में नौ मुल्कों को हराया आप अंदाजा लगाइए उसके पास सोफेस्टिकेट हथियार थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और ये बेचारे अरबों के पास बंदूक नहीं है लड़ रहे तलवारों से लड़ रहे हैं छह दिन तो बहुत दिन हो गए दो दिन में हरा सकता था छह दिन में सब कुछ उड़ा दिया उसने इराक को हराया सऊदी अरब को हराया और छह नौ मुल्क हारे आप अंदाजा लगाइए तो हम किससे उम्मीद कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी इकोनॉमी अभी डेवलप हो रही है और फुल्ली वो डिपेंडेंट है किसी और मुल्कों पर ठीक लेकिन ये कोई जवाब नहीं है ना हमारे लिए कि नहीं ऐसा है ये तो जवाब नहीं है ना कि ऐसा है तो आप ऐसा करेंगे मुल्कों के एतबार से हुकूमतों के एतबार से तो ये है अशखास के एतबार से आप देखिए कोई भी सपोर्ट नहीं करता इसराइल समझ रहे आप के एतबार हुकूमत मजबूर है वो बोलते तो ना उंगलियां पूरी लबी हुई है सर मुसल में दे दी मुसल में नहीं पूरे मुसल में गिरे हुए लेकिन ऐसा कोई मिलेगा आपको अरब जो खुश हो रहा है बहुत अच्छा होगा फलस्तीन मारना इनको सालों का अच्छा तो मिलेगा आपको खुद यहाँ तक कि कोई ईसाई अरब भी नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा बहुत अच्छा हो रहा है इसराइल तो उसको मालूम कल इसराइल जब बढ़ेगा ना तो हमारी बारी भी आने वाली क्योंकि तो इसराइल ने खुद अल खुद के बैतुल मकदस की यहूदियों के साथ भी क्या किया उनको पता है उनको भी उतना ही मारा जितना इनको और आपको पता है जो हमास से पहले जो हुकूमत थी जो चलती थी पीएलओ फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके सदर सारी जिंदगी जो यासर अरफात रहे ये कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ ये क्रिश्चियन और जो है पैलेस्टीनियन मुस्लिम का मुहाज था जो दोनों ने मिलकर बनाया था क्योंकि अक्सरियत मुस्लिम थी इसलिए लीडर यासर अरफात को चुना गया था और पीएलओ एक नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो फलस्तीन के हक के लिए लड़ रही थी जबकि इसराइल फर्स्ट जैसे एक रिलीजियस हुकूमत है गवर्नमेंट है जो दीन के लिए लड़ रही है उसकी हमको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं ये फंडामेंटलिस्ट ये लो पैंतालीस साल क्या थी यही था एक यहूदी बल्कि उसमें यहूदी मेंबर्स भी थे अक्सरियत ईसाई और मुसलमान थे जो मिलकर लड़ रहे थे फलस्तीनियों की आजादी के है ना हमास तो एक रिलीजन ऑर्गन अब आया है ना मतलब यहूदी तो रिलीजन मजहबी तौर से लड़ रहा है ना उनका हक मजहबी है उनके पास कोई दलील है कि वो जमीन उनकी है हजार साल पहले मेरा मेरे बाप दादा की जगह है तो क्या आज आके मैं लोग हटा के बोलूंगा मेरे बाप दादा यहाँ रहते तो ये लोग दबे हुए हैं लिहाजा मैं यही कहूंगा हर शख्स क्या कर सकता है जुल्म के खिलाफ वो करे ये क्या करे वो क्या करे ब्लेम गेम में क्या होगा नई आग लग जाएंगी नए तमाशे खड़े होंगे तो लिहाजा हम वो ब्लेम गेम छोड़कर ये करें मैं क्या कर सकता हूँ आप क्या कर सकते हैं ताकि दुनिया से जुल्म हटे मैं खास एक मुल्क और एक शहर की बात दुनिया से जुल्म हटे हम उसके लिए हम जो है कोशिश करें तो लिहाजा अरब ममालिक का यह हाल है रहा उलमा का कि कुछ जगह वो कह रहे हैं कि भाई ये जहाद आपस में लड़ रहे हैं तो मुसलमान दूसरी जगह नहीं कहते ऐसा भी नहीं है अलहमदिल्ला मैं ऐसे कई उलमाओं को जानता हूँ जो दुनिया भर के अंदर जिन ममालिक ने आज़ादी दी है उनके इंडिविजुअल्स को कि वो जहां लड़ सकते हैं मुल्कों की जरूरी हम मुल्कों के नेशनल्स होते हैं आजकल हम लोग तो उन्होंने आज़ादी दी है और वो लड़ भी सकते हैं उलमा उभारते भी है लेकिन जो हक की लड़ाई के लिए उभारते हैं ऐसे लोगों को ऐसे जेलों में डाला जाता है जो लोग सऊदी अरब में रहे या गल्फ ममालिक में किसी मुल्क में रहे बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आलिम साहब ने तकरीर के बाद बेचारे जो नहीं मिलते शायद उनकी जनाजे की नमाज के लिए कॉल होता है कि मरकर तकसीम कर दिया जाता है तो ये जुल्म इसलिए कि सलातीन और बादशाह जब कंट्रोल में होते हैं ना किसी के तो बहुत मुश्किल होता है सर आया तो खुले आम कोई काम करना तो बोले हक बोलने वाले आज भी हैं थे और हमेशा रहेंगे मसला ये है कि हर वोट की आवाज कब कहाँ तक पहुंचेंगे ठीक मीडिया किसी के कंट्रोल में इकोनॉमी किसी के कंट्रोल में सारी चीजें अगर किसी के कंट्रोल में हत्या की हाल ये है कि अगर वहां से बैंक अकाउंट बंद कर दो तो यहाँ ये जो है कोई वो नहीं रख सकते आप आवाज उठाए तो खत्म कर दिया जाता है शाह से पहले शाह फैसल का क्या हाल किया गया था सारी दुनिया में शाह फैसल सऊदी अरब के आखिरी बादशाह थे जिन्होंने खुलकर कहा था कि जो है लोगों तुम्हें क्या हुआ तुम जहाद क्यों नहीं करते इसराइल के खिलाफ तुम क्यों नहीं उठते मैं एक दिन भी रहना पसंद नहीं करूंगा कि मेरे भाइयों पर जुल्म होता रहे और मैं जिंदा रहूं और उन्होंने एक सैंक्शन लागू किया था सैंक्शन ये था कि सारा पेट्रोल अमेरिका को बंद कर दिया जाए और अमेरिकन इकोनॉमी ठप हो चुकी थी सिर्फ आठ दिन पेट्रोल बंद किए थे और हुआ क्या उन्हीं की भतीजे ने उनको खत्म कर दिया शाहफाद उसके बदले में फिर जो बादशाह बने तो तुम बोलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे खामोश रहोगे तो बादशाह रहोगे आवाज करोगे तुम और तुम्हारा मुख सब हम उठा सकते हैं मिस्र का मामला ले लीजिए लीबिया का मामला लीजिए ये लीबियन अपराइजिंग और इजिप्शियन अपराइजिंग नहीं थी ये तो बहुत दिनों से जो हमने बिठा रखे थे वहां पपेट्स ये कठपुतलियों को बदलने का समय था अब हम तो आके नहीं बता सकते ना बम गिरा के पूरी दुनिया बनी गलत काम हुआ लिहाजा आपको ही चलाया गया आप ही के खून पर नए हुक्मरान लाए गए नए हुक्मरान आने के बाद हम खुश हुए कि माशाला खुशी हुई हमको अगर ये हकीकत में अपराइजिंग होती लेकिन मैंने जब ये शुरू हुआ तभी कहा था ये अरब अपराइजिंग नहीं है ये एक उठाव है जो इससे पहले भी हो चुका है दुनिया वो उठे हुकूमत बदली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट सेलेक्ट होकर आई जिसको जो है इस्लामिक ब्रदरहुड या जो है इखवान कहा जाता था इलेक्टेड गवर्नमेंट आई आपने उसको खत्म कर दिया क्यों खत्म कर दिया इसलिए कि हमको पपेट्स चाहिए नेक्स्ट समझ रहे हैं बात जो मुस्लिम मुल्क है जिनको भी हथियार और दांत उनके साथ ये होता है पपेट बिठा दिए जाते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल क्या हर थोड़े दिन में एक नया पपेट आता है एक आता है एक आता है चीन एक आता है चीन अब एक और आ जाएंगे थोड़े दिन में तो ये मसला चलते रहता है हिंदुस्तान में अलहमदा कभी नहीं हुआ किसी मिलिट्री जनरल ने वो किया क्यों नहीं हुआ हालांकि इतने स्ट्रेंथ है इतने स्ट्रांग है अभी नहीं करते इसलिए कि ये जो मजहब पर है इसलिए कि वहां एक्सटर्नल फोर्स है और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती मुल्क से सबको मोहब्बत है ना सिर्फ एक मुल्क को नहीं बोल सकते हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क से मोहब्बत है सबको अपने मुल्क से मोहब्बत ठीक तो ये सब होता है तो इसको ये तमाम एक सिनारियो बहरहाल एक बहुत बड़े लेवल का इस, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है फर्दर एतबार से हम क्या कर सकते हैं हम ये सोचे तब ये है अपने अमाल की दुरुस्ती नेकी की तरफ वो करना अच्छा को हुक्म देना बुराई से हम लोगों को रोके और जो कुछ अपनी नफ्स से थोड़ा बहुत इसे हो सकता है वो दुनिया से करके जाए कि मैं ये कर सकता था अल्लाह मैंने कर दिया मैं ये कर सकता मैंने कर दिया ये ही कर सकता था हम इंतजार क्या कर रहे हैं खालिद बिन वलीद का इंतजार कर रहे कोई इंतजार कर रहा सलाउद्दीन अयूबी का कोई खालिद बिन वलीद नहीं आएंगे कोई सलाउद्दीन अयूबी नहीं आएंगे हम ही में से खालिद बिन वलीद पैदा होंगे और हम ही सलाउद्दीन अयूबी बनने वाले तो मसला ये है कि अल्लाह मुजाहिद होना लेकिन मेरे घर में नहीं पड़ोसी घर में पैदा होना अल्लाह मुजाहिद दे इस मुल्क को आजाद कर दे लेकिन वो मुजाहिद मेरा बेटा नहीं होगा पड़ोसी का बेटा बने इसको अल्लाह ताकत दे इसको सलाहियत दे इसको सब ये नहीं होता है तो हम ही को उठना होगा हम ही में से खालिद उठेंगे हम ही में से सलाउद्दीन उठेंगे वरना ये हालात तब्दील नहीं होने वाले तो लिहाजा हर फर्द अब मुसलमान होने का सोच ले मैं क्या कर सकता हूँ बस ये कर ले तो देखिए इनशाला हम जो कर सकते हैं देखिए ईसाइयों को दूसरे कौमों को ही कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं इंडिविजुअल्स कर रहे हैं फिर कौमें हुकूमतें बना रही हुकूमतें मदद कर रही हम भी जो कर सकते करें फिर हम है हुकूमतें बनी हुकूमतें फिर जो कर सकती वो करेंगी और एक बड़े पैमाने पर एक तहरीक ला सकते हैं और किसी भी तहरीक को आप मायूस मत हो इतना बड़ा यहूदियों की इतनी बड़ी बैंककारी और उनका इतना असला और उनकी इतनी ताकतें उनका वो सब कुछ अल्लाह रबुल्जत ने हमको अपनी जिंदगी में दिखाया है कि सोलह मुस्लिम ममालिक थे जिस पे जालिमाना रशिया ने कब्जा किया था अल्लाह ताला ने तीस साल में आज़ादी हमने देखी नहीं Turkmenistan Uzbekistan Tajikistan Turkistan Afghanistan ये सब क्या है पार्ट ऑफ रशिया है ना बना दिया था उसके बाद जो है हम देख रहे ना अल्लाह ने आजादी दी तो बना ये सब क्या है हमने देखा हम समझ रहे थे और रशिया का क्या हाल था कितने मुसलमानों को मारा गया कौन उसके मुंह लगेंगे अमेरिका ने लगता था वो जमाना था जब रशिया ने किया अल्लाह ने उसको ऐसा तोड़ा बातिल को तो अपनी आंखों से देखे ना इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रशिया का इनकलाब उसको टूटते हुए देखा है कुछ मुल्क तो ऐसे आजाद जब मैं छोटा था मैंने खुद देखा उनकी आजादियों की वो यूरोप के अंदर देखिए जहां हमारे जुर्म किया गया हमने आजादी देखी ना कोसोवो की आजादी तो हम सबने देखी ना उन्नीस सौ इक्यानवे में आजाद हुआ कोसोवो एक मुल्क है ना यूरोप का सबने देखा ना बोजनिया की हालत खराब हुई कोसोवो बना फिर एक मुल्क हम देख रहे हैं ना ठीक तो हालात तब्दील ऐसी होती है अजीम कुर्बानियां कौम देते चली जाती देते चली जाती है जिसके नतीजे में हालात तब्दील होते ठीक है उसी तो तरह बहरहाल हम जो कर सकते कर गुजरे एक नतीजा निकलेगा और अगर हम मायूस हो जाएंगे और यार आप तो बड़े इतने बड़े बादशाह जब हम क्या करेंगे नहीं एक मोमिन भी बहुत कुछ कर सकता है बस करने को उतरा है आप करने में उतरा ये करने में उतरा हम सब कुछ करें और हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है मैं आपको लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ हमारी अपनी कौम को हम क्या दे सकते हैं इस इस इंसानियत को क्या दे सकते हैं यहाँ के लोगों को क्या दे सकते दे दीजिए जरूरत बन बैठिए आप लोगों की जरूरत बैठेंगे लोग आपके लिए आपके खायल हो जाएंगे जब आप लोगों की जरूरत नहीं तो लोगों को आपकी जरूरत नहीं है ऐसा मसला है हमारा तो मुसलमान कर को यार हिंदुस्तान में इनको अगर समंदर में एक साथ डाल दी तो कितना अच्छा हो जाएगा टेररिज्म इनकी वजह से कितना फला इनकी गुर्बत इनकी वजह से इंडिया पीछे इनकी वजह से रह रहा बच्चे पैदा करते फला लोग ये सोच रहे हैं तो हम उनकी जरूरत नहीं है जब हम उनकी जरूरत बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमको समझेंगे हमारे दिन को समझेंगे हमारी अहमियत को समझेंगे तो लिहाजा मैं और आप क्या कर सकते हैं अपने हद तक जो कुछ कर सकते वो करने की हमारा कोशिश करें अल्लाह सुबह हमको तमाम चीज की बातें फरमाए वाखिर कर